सपने मारे मर गया रे छोड़ा राज वचन ने अरे विचारियों ताका सरिया काज पड़ा रहे दरबार में धक्का धनी का खाई लहर दरियाम की तो बेड़ा पार हो जाऊं तो लहर दरियाम की बेड़ा पार हो जाऊं एक शब्द दुकान है एक नजर दो आंख यू गुरु गोविंद ए दोनों एक रूप है जाख सके तो जाख फकीर भया रे राजा मुलक बुखारंदा समझ रहे सिर पे हाल हजारों लाए फकीर भया राजा मुलक बुखार लाए फकीर भया रे राजा मुलक बुखार जिनके आगे हो जा चलती तो रिंग लाख हरी जिनके आगे भाई फौजा चलती जिनके आगे ढारूं सोई नर पैदल चालन लाॻियां सोई नर पैदल चालन लाॻियां पैदल पाऊं घारूं फ़कीर भया रे राजा मुलक बुखारूं ला फ़कीर भया रे राजा मुलक बुखारूं कहूँगा इतना छोड़ कर के लिनी फकीरी सवा टाक भर वो जामा पहनता दर्पण में मुख निहारूंदा है सवा लाख का वो जामा पहनता है निहारूंदा सोई नर गोदड़ी वो ढन लागा सोई नर गोदड़ी वो ढन लागा अधमन भार उपारूंदा फकीर भया राजा मुलक बुखारूंदा बुखारों दारी फकीर भया राजा मुलक बुखारों जिनके सिर पे हाल हजार होंदा इतना छोड़ के लीनी फकीरी ऐसी माँ विसारूं दारे फकीर भया राजा मुलक पुकार अरे हट बड़ा बात बात का वो भोजन जमता है जी ये, ये। मिठाई है भात भात का वो भोजन जमता मेवा द्राक्ष मिठाई सोई नर टुकड़ा चावन लाया आसी सांझ सवार फकीर भया राजा मुलक फकीर भया राजा मुलक बुखारूंगा सिर पे हाथ हजारूंगा ಧನು ಧನ ಕಲವ ಕಾಣುಂದ फकीर भया राजा मुलक भुखारूंगा फूला हुंदी वो सहज बिछावे फूला हुंदी सहज बिछावे कलिए कलियों नारूंदा फूला हुंदी कले कलियूं नई नर जमीन पर लोटनि लाइ

लत उखाड़ो बंदगी साचा साहेब री मौला प्रेम पिछाणू दाए करिले बंदगी साचा साहेब री

ہے رวี رام سنت گھر بتا سلامات بجاؤ اے کرے آ भैरवी राम संत भान प्रताप कह राम संत भान प्रताप है कोई फिर मलिया जो खारूंडा है फिर भया राजा ऐ मुलक तुम भी मिले आज

रावटी आसमान की ऐसा मत मारो चले आओ धरती को गाली चौकी दो रावटी आसमान की चंदा सूरज दीपक किनो ऐसी संपद श्याम की रे धन तोरी साहिब धन तोरी साहिब धन तोरी साई तुम मरो सचो साईं धन तोरी साई रे

किसी को दिया हस्ती और घोड़ा ए किसी को दिया पालखी किसी को दिया हस्ती और घोड़ा किसी को दिया पालखी मेरी दिना किसी को कंगाल की रे तो किसी को अमेरी दिना किसी को कंगाल की रे धन तो

ऐसी दया करना हम पर कंगाल गिरे धन तोरी साई धन तोरी साई दातार ऐ धन तोरी साई तुम हो हमरो सच्चो साईं ધન તો રિસા તમ હે મરો સચો સાની ધન તો અમારો બાબા अब तो रात गई सुबह हुआ रात गई अब सुबह हुआ जब ताजा एकदम हुआ अफसोस है जिंदगी का एक दिन कम हुआ

फिर निर्धूल को पावे समझ कर बिगड़े सो बन जाए समझ कर बिगड़े सो बन जाए बिगड़े सो बन जावे पार तुम ना तो मन लागे जैसे तार तंबूर सा तो तन से जुदान तू जिसमें जितनी बूद है इतना ये बताए जिसमें जितनी बूद है इतना दिए बता वहाँ का बुरा न मानिए और कहाँ से लाई दर्शन के काज फकीरी लेके फिरूं जंगल में हरि दर्शन के काज फकीरी हरि दर्शन के काज फकीरी जंगल में रही हूँ तुही तुही तार लॻियो Here we go. दर्शन के काज फकीरी लेके फिरूं मैं जंगल में

बबूती मैं रखूं राम भगत भभूती भगती राम रखूं राम में नाह करके ज्ञान गंगन में समता शिला होता कप समता कपनी सिला के डारी रखी यही अंगन में हरि दर्शन के काज फकीर हरि दर्शन से साज फकीर भिक्षा करूं मैं भजन भाव किए मालिक तेरा मंगन हूँ मैं भिक्षा करूं मैं भजन भाव के राम मालिक तेरा मंगन हूँ कर्म काष्ट सब लकड़ी जला दू मालिक तेरा चरणन में हरिदर्शन के का अपना दानी है छोड़ना नहीं आवाज एक लाइन मजा करवा दे दीवाना कहते हैं मुझको फनादानी है मैं हूँ दाना और ये दुनिया दीवानी है दर्शन के काज फकीर हरि दर्शन के काज फकीर लेके फिर हरी जंगल में जंगल में हरी हरी दर्शन के काज फकीर फिकर मिटे ये तन का